परम प्रिय पूज पिता श्री सदगुरु जी महाराज आपकी चरणों में संगीत बहुत भाता है सदगुरु जी जिन्होंने हमको इतना संगीत का प्रसाद इतने सालों तक देते आ रहे हैं ये ज्ञान देते आ रहे हैं हमको और ऐसे सुंदर सुंदर नौजवानों को जो कि खूबसूरत संगीत के साथ इस भक्ति को इस विश्व को बड़े प्रेम से रच रहे हैं तो इसके लिए सदगुरु जी हम सब सदा आभारी हैं और हमें बस ये प्रसाद और ये ज्ञान देते रहें तो सात संगत जी आज हमारे बीच में बड़े हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं जिनसे हम आपको मिलाना चाहते हैं तो आज उस्ताद विलायत खान साहब के जो अहम शिष्य शागिर्द हैं पंडित अरविंद परिक जी वो हमारे साथ हैं और साथ हमारे उस्ताद हिदायत खां साहब हैं जो कि तबले के बहुत बड़े मास्टर हैं बड़े तबला नवाज़ हैं बॉम्बे के बड़ी मशहूर तबला नवाज़ हैं जिन जिन्होंने जो जयपुर के हैं इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से बहुत काम किया है और अब और बड़े बड़े उस्तादों से तालीम पाई है और साथ बेगम अफरोज़ बानो जो उस्ताद हिदायत साहब की मिसेस भी हैं <laughs> और बहुत बड़ी गायक हैं गायिका हैं तो इनका प्रोग्राम अभी हाल में ही पर्सेल रूम में हुआ था तो उस दौर बम्बई से ये लोग आए हैं पंडित जी अरविंद परिक जी आज ही आए हैं अमेरिका से कल लौट रहे हैं तो हम सब सदगुरु जी के के लिए ख़ास यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं तो आज शाम का इस आपको भेंट करने के लिए बेगम साहिबा ने ऐसे सोचा कि आपके सामने कुछ भजन पेश करें और इसके पहले कि वो शुरू करें हम ये भी कहना चाहेंगे कि और अच्छे संगीतकार हैं हमारे बीच महबूब मेहंदी भाई जो कि अरविंद परिक जी के स्टूडेंट हैं और खैर नामधारी आर्टिस्ट में तो किरण भाई हैं पिंकी जी हैं पंडित शारदा सहाय जी हैं बस ऐसा ही अच्छा लगता है कि आपके इर्द गिर्द संगीत भरा रहे <laughs> तो बेगम अफरोज़ बानो हिदायत खां साहब उस्ताद हिदायत खां साहब